घृपद्मं प्रणतोऽस्मि ओ ॐ सहनावतु सहनौ भुन सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना तमस्तु मा विद्विषा ॐ शांति शांति शांति अथ हनुमान चालीसा चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारे वरणहु रघुबर विमल जसु जोदायक परचारे बार देख रहे थे हनुमान चालीसा में जो प्रारंभ के दो दोहे हैं हम्म? बहुत ही गंभीर है और उसके ऊपर भक्त लोग खूब चिंतन करते हैं संत लोग बड़ी गंभीर व्याख्या देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको अलग छंद में लिखने के द्वारा बाकी चौपाइयां करी इनको सोरठे में लिखा है तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने इनकी विलक्षणता दिखा के इसके ऊपर चिंतन करने की प्रेरणा दी है हम लोगों ने पहले दोहे को अच्छी तरह से देखा था श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी श्री गुरुदेव के चरण की धूली से अपने मन के शीशे को साफ करके वर्ण हूं रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार हम भगवान श्री राम के विमल यश का वर्णन करते हैं जिनकी कृपा से जीवन के समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको सब मिल जाएगा ये निश्चय रखो इतनी महिमा होती है इस ज्ञान की गुरु की कृपा की भगवान की कृपा की और फिर हम लोगों ने पिछली बार ये दूसरे सोरठे में प्रारंभ करा था बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हम लोग इस विषय के ऊपर चिंतन कर रहे थे कि यहां गोस्वामी जी ने सुमिर शब्द जो लिखा है बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार ये बड़ा जो है यह प्रासंगिक शब्द है स्मरण करना मतलब कि जो आपको आपके गुरुदेव ने बताया है जो आपने पढ़ा है जो सत्संग में सुना है उसको मन में लाना उसको बोलते हैं स्मरण करना सुमिरो तो ये जो है बोलते हैं प्रारंभ में आप पूजा करिए या ध्यान करिए या पाठ करिए एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि सदैव जो है हम लोगों को वहां विद्वान लोग पंडित लोग वो बोलते हैं चलिए अब शिव जी की पूजा कर रहे हैं अथ गणपति ध्यानम अथ गुरु ध्यानम अथ शिव ध्यानम तो प्रारंभ में आप स्मरण करिए उनके रूप का उनके रूप का ध्यान करो तो यहाँ पर भी आप हनुमान चालीसा का जब विधिवत पाठ करेंगे तो शुरुआत में एक आदत बना लेनी चाहिए कि आप मन में पहले तो अपने गुरुदेव का स्मरण करिए जिन्होंने आपको जीवन में ये पथ पे चलने की प्रेरणा दी है आशीर्वाद दिया है ज्ञान दिया है और उनकी कृपा से आपको सब प्राप्त हो जाएगा ये विश्वास रखिए और उसके उपरांत हमको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए हम लोग इसी विषय के ऊपर पिछले सत्र में थोड़ा चिंतन कर रहे थे कि देखिए ध्यान करने से हमारे जितने मन के वृत्तियां होती हैं सब समाहित हो जाती हैं और ज्ञान तभी अच्छा होता है आशीर्वाद तभी अच्छा मिलता है आपको एक संदर्भ में एक चीज बताएं कि हम लोगों का जो प्रसिद्ध अष्टांग योग है जो पतंजलि महर्षि जी के द्वारा बना हुआ है उसमें हमारे मन को सुंदर शांत बनाने के आठ अंग बताते हैं इसीलिए उसका नाम ही अष्टांग है यम नियम हम्म, आसन प्रत्याहार प्राणायाम उसके अंदर जो है वहां एक आता है धारणा धारणा होता है कि आपको अगर अपने मन को सुंदर बनाना हो तो आपके जीवन में कुछ अच्छे मूल्य का तो नींव बनी ही है एक अच्छा नियम चल रहा है आसन से आपका शरीर स्वस्थ है आप प्राणायाम भी करते हैं और प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुख करके भी बैठना चाहिए भगवान के ध्यान भजन के समय बाहर की चीजों के बारे में मत चिंता करना और एक चीज जो धारणा बताई जाती है उसमें यह होता है कि एक देश बंधा एक चीज में अपने मन को थोड़ी देर फोकस करना चाहिए इसका मैं मतलब क्रांतिकारी असर देखा गया है कि अगर आदमी प्रारंभ में धारणा का अभ्यास करता है आप भगवान का रूप ले आए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेम से उसके डिटेल्स को अपने अंदर देखिए जो रूप आपको प्रिय है और इसीलिए हम लोगों को हमारे संत लोग जब नाम का दान देते हैं मंत्र की दीक्षा देते हैं उस समय एक रूप और एक नाम दे दिया जाता है और उस एक रूप एक नाम से हम लोग अपने मन को सुंदर बनाने की इस प्रक्रिया पे चलते हैं एक रूप और एक नाम ही होना चाहिए यद्यपि हम अपने भगवान को सब रूपों में देखें लेकिन हर व्यक्ति को अपने चित्त को समाहित करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपने दिल में तो एक रूप और एक नाम की सिद्धि करनी पड़ती हम लोग को याद है ना ये पढ़ते हैं जिस समय गोस्वामी जी गए वृंदावन तो वहां कृष्ण जी को देखा और उनकी देखे शास्त्रों में कैसी निष्ठा है जब साधना करी जाती है तो भगवान के एक ही रूप को पकड़ के करी जाती है तत्व के दृष्टिकोण से भगवान हर जगह होते हैं लेकिन रूप के दृष्टिकोण से एक को ही पकड़ना होता है तो जाके भगवान कृष्ण से बोलते हैं भगवान बांसुरी ये कहां खड़े हुए कण धनुष बाण आपका तो वो भगवान को इस दृष्टि से देख के और हमारे संत लोग ये कथा बताते हुए कहते हैं कि देखो वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे गोस्वामी जी खुद बोलने वाले कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी हाथ जोड़ के हर जगह भगवान को देख रहे प्रणाम कर रहे तो भगवान आप इनको नहीं देख पा रहे क्या हाँ, कृष्ण भगवान को आप राम में नहीं देख पा रहे हो प्रभु बोलते नहीं भैया देख तो पा रहे हैं लेकिन उपासना की भजन की यही मर्यादा है हम्म? हम लोग के भले रिश्ते हो आप हर जगह प्रेम रखो लेकिन भैया विशेष प्रेम स्नेह एक ही संबंध बनाने की रीति हो एक संबंध बनाओ जैसे एक संबंध बनाते हो सेवा सबकी करो प्रेम सबको करो सेवा करो सबकी हम्म? लेकिन विशेष संबंध जैसे इंसानों में भी एक के साथ ही बनाया जाता है एक को तो निभा लो हाँ। अब बाकियों को दुनिया भर के पता नहीं लोग तीन तीन कैसे निभाते हैं आज हम लोग तो एक को निभाते हैं जीवन भर निभाते हैं और सात जन्मों को निभाने की कसम अलग दे जाते हैं एक के प्रति निष्ठा का सूचक है और जैसे व्यक्ति एक के प्रति संबंधों में एक के प्रति निष्ठा रखता है वैसे ही अपने इष्ट देवता के प्रति रखता है वो भगवान को उठो सेवा करो सवेरे उठो ध्यान करो उनका नाम जपो उनका पूजन करो उन्हीं को अर्पण करो तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पये भगवान आप ही की सब चीजें आपको दें लेकिन जब आप बोलते हैं तो मतलब क्या होता है आजकल तो आप शब्द डेंजरस हो गया भैया आप बोलने तो कौन केजरीवाल बोलते नहीं भैया वो वाले आप नहीं आप मतलब भगवान जिस समय हम आपको अर्पण करें तो हमको अपने इष्ट देवता का ही रूप लाना चाहिए इष्ट देवता की सिद्धि करनी पड़ती है भैया आपके मन में भगवान का स्मरण आए तो सहज रूप से आपका रूप आ जाना चाहिए इष्ट देवता का बोलते तो सिद्धि हो गई संत लोग बैठ के जो है वो पुरस्करण करते हैं उसके लिए पुरस्करण पता है ना आप लोगों को पुरुष होता है जो भी मंत्र आप जप रहे हो अगर पांच अक्षर हैं तो पांच लाख बार करो तो जाके वो पुरुष पूरा होता है अगर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवा ये इतना है तो उसमें जितने अक्षर हैं उतने लाख बार करोगे तो उसको एक पुरुष बोलते हैं तो उसका प्रयोजन ये होता है कि फिर ऐसी आदत मन की पड़ जाती मन आदतों से जो तो बनता है मन को आप जैसे जैसे आदत डालते जाओ वैसे आदत बन जाती है उसकी बचपन से यही खाया पिया उठा बैठे देखे ऐसे करने लगे हाँ? तो सब चीजों की आदत बन जाती है हम लोगों को भगवान के साथ अपने इष्ट देवता को जोड़ने की आदत करनी पड़ती तत्व जो है तो सब में देखो हे प्रभु आप ही सब में हो कणकण में आप हो फिर किसी मंदिर में भी जाओ फिर बोलो भगवान इस रूप में हमारे राम खड़े हुए हैं हम्म? इस रूप में जो है वह गणेश जी के रूप में है कृष्ण जी के रूप में है शिव जी के रूप में है आपको राम देखना चाहिए भैया राम का ही हाथ पकड़ लिया है हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया है उन्हीं को देख तभी जाके रिश्ते पवित्र होते हैं जैसे रिश्तों की पवित्रता होती है वैसी इसकी पवित्रता होती है तो वहां पर ध्यान करने के समय मन में एक वो सुंदर रूप लाओ जहां देख के मन जो है मोहित सा हो जाए स्तब्ध हो जाए धन्य हो जाए रसमय हो जाए कृतार्थ हो जाए कृतज्ञ हो जाए भगवान के भजन की सबसे सुंदर भावना होती है कि कृतज्ञता होनी चाहिए आपके भगवान के स्मरण से गीता के अंदर भगवान माया के तीन गुण बताते हैं बोलते हैं भैया हम सब लोगों का मन जो है ना तीन गुणों से बना हुआ है हम्म? तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण जो लंका के तीन भाई थे ना ये तीनों गुणों के प्रतीक थे कुंभकर्ण जो था तमोगुण का प्रतीक था आलसी था विभीषण जो है सत्व गुण के प्रतीक थे भक्त थे लंका में रह के भी भजन करते और रावण जो है राजसी था अनेकों कामनाएं वासनाएं अहंकार अभिमान मन उद्वेलित हो रहा है चंचल हो रहा है और विक्षिप्त हो रहा है यह हर व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है हम लोगों को अपने मन को भजन के द्वारा सात्विक करना होता है जैसे आप दवाइयां लेते हैं ना जब बीमार हो जाते हैं तो आप स्वस्थ होना चाहते हैं वैसे ही जब भजन करा जाता है तो सात्विक होना ये आदर्श होता है ये लक्ष्य होता है और ये तब आदमी करता है जिस समय अच्छी तरह देख लेता है कि भाई चाहें तो कुंभकर्ण बन सकते हैं कौन रोके है हम लोग को <laughs> कुंभीकरण बनना है तो फिर सो जाओ पढ़ रहो आज तो स्वामी जी संडे हाँ, आज तो सवेरे जो है हम कहीं नहीं जाते हैं बोला क्या ध्यान व्यान करते हो बोलते नहीं ध्यान नहीं करते सीधे लेट लेटते समाधि लगाते महाराज ऐसी समाधि लगाते ना विचार न चिंता बस पड़े रहते हैं महाराज हाँ, ठीक है अब तुमको खुद ये निश्चय करना पड़ता है कि तुम स्वतंत्र हो हमारे देश बड़ा स्वतंत्र देश यहां दूसरे देशों की तरह डंडे मार मार के किसी को घोड़ गधे को घोड़ा नहीं बनाया जाता बाकी पूरी दुनिया में हर की पांच बार तीन बार कर तो संडे संडे तो जाए ही करो तुम कम से कम क्या हिंदू धर्म है कोई डंडा नहीं कोई जबरदस्ती नहीं आओ तो भी तुम हमारे नहीं आओ तो भी हमारे बोलो जय सिया ऐसा धर्म दुनिया में कहीं नहीं है सब दुनिया भर के लोग जो है ना बोलते हैं यार बड़ा विचित्र धर्म है तुम्हारा इतनी स्वतंत्रता क्योंकि प्रेम उदित होता है आनंद उदित होता है शांति होती स्वतंत्रता में स्वतंत्र होने चाहिए और जहां पे स्वतंत्र ही होके काम करना है वहां खुद निश्चय कर लो तो सब कर लोगे फिर कौन रोकेगा हमको दिखाई पड़ जाए कि तानसी जीवन जीना आलसी जीवन जीना ये कोई स्वस्थता की निशानी नहीं है और दूसरा होता है राजसी जीवन क्या महाराज जी रावण जैसे अगर बन जाए आशीर्वाद दीजिए कुछ हे प्रभु दीना बंधु दीना नाथ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि रावण जैसी हमारी भी लंका हो जाए सोने की लंका हो और हनुमान जी ने ऊपर से पहाड़ की चोटी से देखा था लंका को देखो रावण में क्या वर्णन आता है रामायण जैसा अयोध्या का वर्णन था वैसा लंका बनाई हुई थी रोड के ऊपर सोने की जो है वह हीरे जवाहरात दिख रहे थे वहां पे कांति दिखाई पड़ रही थी ऐसा जो है वैभव था तो उसने धन दौलत बहुत जमा करी ईश्वर ने बहुत जमा करा नाम ख्याति बहुत जमा करी लेकिन जीवन की गति क्या हुई मारा गया राम जी के हाथ से हम्म? पूरा जीवन भी नहीं जी पाया जिस चीज के सपने देख रहा था वो सपने भी नहीं पूरे कर पाया पूरे कुल का नाश कर डाला जाता भूख प्यास लोभ और इच्छा कामना ये लगता है कि ऐसा लुट लाओ जल्दी से ले आओ हम्म? अब जो भी ऐसे लुटेरे लोग होते हैं जमा तो कर लेते हैं भाई थोड़े दिन तो दाऊद इब्राहिम का भी बंगला देखो क्या स्टाइल से रहता है हाँ? हमारे बाकी भी लुटेरे लोग होते हैं हाँ? हमारे नेता लोग भी लुटेरे लोग होते हैं हाँ? कई लोगों को रखने की जगह नहीं होती तो गद्दे में रखते हैं तो पकड़े गए उनको कौन से वो भगवान जाने उनका नाम लेने से क्या लेना चाहिए हमारी व्यासपीठ की गरिमा खराब हो जाए ऐसे दुष्ट लोग रखने से उनके भैया बस फर्क इतना था उन्होंने जीवन में आदर्श रावण को बना रखा बोलते यही स्मार्ट आदमी है भगवान भगवान आशीर्वाद दीजिए कोई रावण जैसा हो जाए ये भी कामना पूरी हो जाए वो भी कामना पूरी हो जाए और पुष्पक विमान में घुमा कर पुष्पक लाए कहां से लूट के लाए अरे लूट उठ के चलेगा महाराज जी आए तो पुष्पक हाँ। और इस तरह से पुष्पक विमान होना है और ऐसा घर होना है और ये सब होना है कामना कामना कामना वासना बेचैन अशांत घुटन सदैव शिकवे शिकायतें कभी संतुष्टि नहीं रात को भी नींद भी नहीं आएगी हम लोग को रामायण ये राजसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है और तीसरे वहां के भाई साहब है? विभीषण जी जहां वर्णन आ गया तो वो प्रसंग ही सुंदर कांड बन गया हाँ? बोलो सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी का वर्णन आ गया विभीषण का वर्णन आ गया दो महान भक्त राजों का वर्णन आया है सुंदर कांड में इसलिए सुंदर हो गया इनको नारद जी अपनी भक्ति सूत्र में भक्ति के आचार्य की तरह से बताते हैं हैं भक्ति सीखनी हो भगवान के प्रति कैसे अनुराग उत्पन्न करना है प्रेम उत्पन्न करना है तो विभीषण जी से सीखो हनुमान जी से सीखो पूरा जीवन उनका सात्विकता की ही अभिव्यक्ति थी यही हमारे मनीषी लोग बताते हैं कि भैया सात्विकता को पहचानना सीखो सात्विकता को ही भजन का लक्ष्य समझो और जानना हो तो ये रामायण में गीता में सब जगह बड़ा बढ़िया बड़ा वर्णन आता है हम्म? आप लोगों को जो है छोटा सा प्रसंग सुना है सात्विकता का जिस समय हाँ, भरत जी जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट में चले गए थे वनवास हो गया था अब ये आए अपने ननिहाल से पूरा यहाँ पे कांड देखा राजनीति का उठा पटक देखा बहुत ही जो है दुखी हो गए हमारी माता जी ऐसा कर सकती हैं हमारे पिताजी का देहांत हो गया इसी चक्कर में हम्म, बहुत ही जो है वह पीड़ित थे दुखी थे अपने माता जी से तो रिश्ता ही खत्म कर दिया उन्होंने जीवन भर का बात ही नहीं करी उसके बाद हम्म, और वो गए बोला सब लोगों को मनाया अब आजकल का लोकतंत्र होता ना भैया तो वहां पे दो वोट अगेंस्ट जाते उनके पूरी <laughs> वहां पे अयोध्या उनके साथ थी कोई मजबूरी में बोलता है कि हाँ भाई आपके पिताजी ने भी बोल दिया था आपकी भाई साहब ने भी कह दिया था और ये भी कह दिया वो भी कह दिया लोगों को राजा भी चाहिए ही चाहिए तो आप बन जाओ राजा भरत लाल जी लेकिन भरत जी ने सबको अपना पक्ष बताया विचार बताए दिल जीत लिया सबका बोला वाह भाई ये कितनी अच्छी बात है कम से कम एक कोशिश तो कर लेना बुलाने की कुछ यहाँ पे षड्यंत्र हो गया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि राम जी को एक बार बुला के ला प्रार्थना करो महाराज जी अब आपने अपनी आज्ञा का तो पालन कर लिया अब हम भी अपने धर्म का पालन करते हैं तो प्रभु वापस आ जाओ आप बोलना तो चाहिए ना कम से कम ये थोड़ी गए तो गए जल्दी से बैठ जाओ हाँ, चलो बन गए राजा यार अब ये तो हमारे वहां के नेता लोग तो कर लेते हैं लेकिन ये सब ऐसे महान भक्त लोग वो क्या सोच सकते हैं गरीब सब लोग और वहां जिस समय जा रहे थे और सेना भी साथ में माताएं भी साथ में गुरु भी साथ में सब जो है वो उनके राज्यभिषेक की तैयारी अब जब राज्यभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे तो सेना को स्वरूप भी देना ही था अब सेना इसलिए ले जा रहे थे वहां कौन सा आक्रमण करना था उनको लेकिन अब जिसके मन की जो भावना होती दूसरा ना समझ पाए तो बड़ी मुसीबत है वहां निषाद राज जो भीलों के राजा थे जंगल में उनको पता लग गया कि भरत लाल जी सेना लेके चित्रकूट जा रहे हैं अब कोई भी आदमी संसारी राजनीति से सोचे कि क्यों जा रहे हैं बोला भैया गद्दी मिल गई है और चौदह साल बाद वापस करनी है वापस चौदह साल बाद आएंगे तो चौदह साल बाद का भी रगड़ा क्यों रखना है? हाँ? इस समय निपट लो जो निपटना है अब एक आम आदमी इसी दृष्टिकोण से सोचेगा तो वो लोग भी निश्चित सभी लोग की चर्चा चल रही थी देखो भैया सुना तुमने अयोध्या में क्या हुआ वहां ऐसे लड़के को भेज दिया पिताजी शांत हो गए ऐसा कुर्सी का झगड़ा चल रहा है अब वो जहां पे कुर्सी के झगड़े की मनोवृत्ति हो वहां सभी षड्यंत्र की कल्पना करनी पड़ती तो वहां पे निषाद राज के वहां मीटिंग हुई और मीटिंग में बात हुई कि देखो भाई राम जी तो हमारे मित्र हैं और हम हम लोग छोटे से लोग हैं भील वील बिलाड़े जहाँ पे जंगल में तीर कमान लेते हैं अपना शिकार करते हैं अपना यहाँ जंगल में रहते हैं पेड़ पे चढ़ते हैं ये सब हाँ, जंगली लोग हम ठहरे हम वो उनकी सेना का तो हम क्या सामना करेंगे लेकिन ये हमारा धर्म है कि जो सही बात है उसके लिए हम मर मिटेंगे लेकिन इनको आगे जाने नहीं देंगे तो उन्होंने मीटिंग करी और बोला ठीक है हम्म। अब जो स्नाइपर्स होते हैं जो पेड़ पे चढ़ के गोली चला लें इधर से छुप के चला लें और ये आतंकवादी लोग ना ये मुट्ठी भर होते हैं नाकों चने चबवा देते हैं भले वो जो है कश्मीर में हो जाए या कहीं हो जाए होते मुट्ठी भर हैं लेकिन मुसीबत कर देते हैं मैं बोला हम लोग जाने नहीं देंगे इनको तो पूरी प्लानिंग बनने लगी सब मीटिंग मीटिंग हुई बोला अच्छा ये तुम्हें आए इस पेड़ पे बैठो तो वहां बैठो और तुम तो इस पहाड़ के अंदर और ये पत्थर के पीछे और ये वो सब पूरी तो उनको बोला भरत आए सिया रामचंद्र की जय हाँ कर दे बड़ी गुस्सा खून जरूर बल रहा था और उसके बाद जब भरत जी वहां पास में पहुंचे तो उस समय जब पूरी प्लानिंग होने लगी थी तो एक वृद्ध सज्जन निषाद राज जी के ही भीलों में से वृद्ध व्यक्ति उन्होंने बोला देखो भाई अगर ये गलत भावना से आ रहे हैं तो इनको निपटना चाहिए हम भी इसका अनुमोदन करते हैं लेकिन भैया हमारे जीवन का अनुभव है बता रहे हैं कि जो जैसा लगता है वो कई बार होता नहीं है वैसा बाद में भोकट में दुखी होते हो यार हमने तो सोच लिया था ऐसा होगा शायद और तो शायद हैं इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले निश्चय कर लेता है कि सही में षड्यंत्रकारी है कि कुछ और भावना है तो बोलते हैं ये तो बात सही है आपकी लेकिन किसी षड्यंत्रकारी से क्या पूछा जाता है चोर महाराज आप चोरी करने आए क्या हाँ। हे आतंकवादी आप मारने आए हैं क्या तो हम लोग पूछें कैसे सेना चली आ रही है तो क्या करेंगे वहां पे धोखा खा जाते हैं जीवन में कई बार हम लोग को पता नहीं लगता है और धोखा मिल जाता है यही नहीं है कि अपने स्वजनों से मित्रों से रिश्तों से नातों से घर में मिल जाता है यार अपने लड़के लड़की पति पत्नी में कई बार वहां पे धोखा मिल जाता है अरे पता नहीं चला ऐसा बोला करो ना यार पता पता नहीं तो कैसे पता करे महाराज जी वहां पे कोई युक्ति बताओ तो मैं बोला हाँ बताता हूं तो बोला तीन गुणों के बारे में सुना है जैसे महाराज जी कुछ नहीं सुना है तीन गुण केवल यही सुना है खाने में मीठा होता नमकीन होता खट्टा होता और कुछ नहीं सुना है आप बताओ मुझे बताना है बोलते हैं हाँ एक सात्विक गुण होता है राजसी होता है तामसी होता है और अगर किसी के मन में सात्विक गुण की पहचान हो जाती है तो तुम चिंता ही मत करना सात्विक गुण की ऐसी महिमा है कि वो आदमी पवित्र है निष्कपट है अच्छा है निर्दोष है उसको जो है कोई चिंता मत करना मारने मारने का आइडिया ड्रॉप कर देना और अगर राजसी है तो अलर्ट हो जाना संकेत कर देना तुम्हारे स्नाइपर्स बैठा दो चारों तरफ तीर कमान लेके जहर वहर लगा लोगों के सब भील बिलाड़े ऐसा करते हैं ना सब रेडी हो जाना संकेत करेंगे तो फिर बस चालू हो जाना इन लोगों के ऊपर लेकिन पहले ये निश्चय कर लो कि कौन सा गुण है तो महाराज जी ये सब हमने अभी तक सीखा नहीं बताओ तो तो उन्होंने बताया कि देखो गुणों को पहचानने के अनेकों तरीके होते हैं और ये बड़ी व्यवहारिक विद्या है भैया हम लोग भी सीख लें तो हमारे भी घर में कोई आता है ना मेहमान आगे कोई पहुंच गए तो अच्छे आदमी है खराब आदमी कैसे जानो हाँ, ऊपर से तो रावण भी आता है भिक्षा मांगने और अपहरण करके ले जाता है चोरी करके ले जाते हैं बदमाशी करते हैं लूटते हैं हाँ, रिश्ते नाते अनेकों प्रकार के जो है दुष्कर्म करते हैं पहचानो कैसे पहचानना आना चाहिए तो हम लोगों को जो है उन्होंने बताया कि देखो बहुत सारे तरीके हैं और अगर आपको डिटेल में जाना हो ना तो गीता में चले जाना वहां पे तो पूरी लिस्ट दी हुई है एक छोटी सी चीज उन्होंने बताई कि भाई जिसका मन अगर तामसी होता है राजसी होता है सात्विक होता है खाने का टेस्ट बदल जाता है बड़ी बढ़िया बात बताई उन्होंने जिस व्यक्ति के मन में बड़ा आलस तामस होता है तो ये थोड़ी सोचता है शुद्धि है कि नहीं है वो ताजा है कि स्वच्छ है वो तो बोलता है आंदो <laughs> मक्खी वक्खी बोलते हटा दो आंदो सड़ गया भैया टमाटर उतना काट दो खत्म आंदो अब वो आदमी को न शुद्धि की चिंता न स्वच्छता की चिंता ऐसे लोग तो बाहर रोड के ऊपर खड़े होकर चाट खाते हैं सब मक्खी बिन बना रही है मगर वो तो बस ठीक है मक्खियां कहाँ नहीं होती हर जगह होती हैं अब उसके वजह थोड़ी खाने ना खाओ हाँ, आन दो तो तामसी होते हैं ना कोई संवेदना तो नहीं होती और तामसी व्यक्ति जिस घर में होते हैं सवेरे नाश्ते के लिए पूछते वो कल का कुछ पड़ा है बासी <laughs> तो बासी चीजें उनको मजा आती है हम्म। और जो राजसी होता है ना वो खाने में बहुत ही रस उसको जीववा से खाता है इस चाहिए क्लास चाहिए अहम की संतुष्टि चाहिए राजसी आदमी ऐसे जैसे नहीं खाएगा राजसी को खिलाना हो तो क्लास में खिलाना पड़ता है उनकी संतुष्टि और अनेकों रस तो उनके खाने पीने में सब खानों की अतियां होती हैं मीठा भी जोरदार नमकीन भी जोरदार खट्टा भी जोर सब भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन अति होती है उसमें सब में अति होती है बैलेंस वैलेंस खाना बोलते हैं तुम लोग खाया करो आश्रम का के लिए होता खा तुम लोग हम लोग तो अति खाते खूब बढ़िया खाए अब पता तो चले गया है अंदर अब बाकी अनेकों के घर में हम लोग भाई भिक्षुक लोग हैं जाते हैं किसी आत्माओं के जैसे घर में जाके भोजन करना पड़ता है भैया माता भिक्षा दे ही बुलाओ महाराज जी ले ही दे ही और कई बार तो ऐसी मुसीबत आती है हम नहीं अभ्यस्त हैं उसके अंदर भोजन जाता है हमको पूरा अंदर का एनाटोमी पता लग जाती खाना बाएं मोड़ा है अब अब बाएं <laughs> मोड़ा है अब नीचे जा रहा है केवल उस समय नहीं सवेरे तक जब रोटा लेके <laughs> जाते हैं तब तक पता लगता है अब निकल गया है हमको समझ में नहीं आता लोग खाते कैसे नहीं तो हम तो प्रार्थना करते हैं भैया हम कुछ रोगी आदमी हैं बगैर मिर्चे का बगैर उसमें हम डाल लेंगे है जितना डालना है उनको मत डालो लेकिन लोग खाते हैं बहुत जोरदार खाते हैं आंध्र में गए भयंकर वहां के तो अचार वहां की मिर्चे राजस्थान अरे श्यावर रामचंद्र की घी और मिर्चा तो ऐसा खाते हैं राजस्थान में कि वहां पर भी गट्स होने पड़ते हैं खाने के उसको पचाने के लिए हाँ? राजसी आदमी खाने में बड़ी वैरायटी क्लास ऐश्वर्य और खूब विवेक से नहीं खाता है हुआ को रस रोमांच होना चाहिए मजा आना चाहिए और सात्विक आदमी बुद्धि से खाता विवेक सिखाता है जो उचित है जो अच्छा है जो स्वस्थ है जो ताजा है और वो भी उचित मात्रा में खाता है जो व्यक्ति भोजन में और चीजें भी कुछ होती हैं ऐसी जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं और शास्त्र सब बताते हैं भैया ये चीजें खाओ तो ये सात्विक रहोगे और उससे भी ज्यादा खाने के पदार्थों से सात्विकता बहुत नहीं जानी जाती है आपके अंदर खाने के अंदाज से जानी जाती विवेक से खाओ सभी चीजों में गुण होते हैं उचित मात्रा में हर चीज अच्छी हो सकती है और मात्रा का भी तरीके का ध्यान न रखो तो सब चीजें जो है वह विष बन सकती है अब ये सब जो है वो जो वृद्ध सज्जन थे भिला भील बोला देखो एक काम करो तुम भरत जी जिस समय आए तो तीन जो है वो थाल तैयार करना और तीन थाल में तीन प्रकार के भोजन रखना एक में फलवल रख लेना और एक में जो है वह कोई राजसी खाना अंदर से तड़का लगा हुआ है मिर्चे ऊपर फ्लोट कर रहे हो और ऐसा जो है वह राजसी भोग होना चाहिए और एक में सड़ा गला कुछ भी रख देना हाँ? और उसके बाद तीनों चीजें साथ में जानी चाहिए और उनको जो है वह कपड़ा उनके सामने उठाना एक राजा हमारे वहां आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में तो तुम्हारी कर्तव्य है कि थोड़ी तो आतिथ्य करो और इसी चक्कर में परीक्षा कर डालना बोला हमारा आइडिया तो अच्छा है फिर क्या होगा बोला अगर सात्विक भोजन स्वीकार करा तो तुम संकेत कर देना ये आदमी का मन सही है और फिर और परीक्षा हम लोग कर लेंगे चर्चा भी करेंगे लेकिन प्रारंभिक जो मन में निर्दोषता की अवधारणा है वो सिद्ध हो जाएगी तो महाराज जी सही बता रहे हो आप कि नहीं हमको भोजन वोजन ले जाए नालाय कोई निकले दुष्ट निकले तो मारे जाए हमारे राम जी को भी खतरा हो जाए बहुत तो चिंता है प्रामाणिक क्या बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं ट्राई करो तो ठीक है ना फटाफट ले तो तीन थाल तैयार करे गए और तीन थाल में एक में सात्विक एक में राजसी एक में तामसी भोजन रखा और वो उनके सामने वो स्वागत कराया गया आइए आप अयोध्या के राजा हैं आप यहाँ हमारे क्षेत्र में आए हैं आपका स्वागत है प्रणाम करा उनको और निषाद रात खुद पहुंचे आगे और फिर उनको अर्पण जहां हमको अर्पण करा भरत जी ने देखा तीनों और सात्विक भोजन के थाल पे हाथ रख दिया गया स्वीकृति हो गई ये हम स्वीकार करते हैं सब ने संतुष्ट हो गए खुश हो गए जयकार लगने लगी संकेत हो गया मन के अंदर इतना टेंशन जैसे दूर हो गया सब लोगों को संकेत करा गया उतारा चढ़े बैठे ऊपर सब नीचे आओ तो सब तीर वीर लेके अपने भाले वाले लेके नीचे आ गए और उनका जोरदार स्वागत करा गया और फिर उन्होंने बताया कि किसी ने बोला है कि यहाँ पे राम जी आए थे और इन्होंने तो बड़ी सेवा करी निषाद राय जी ने और भारत जी का तो हान देखने वाला था सब मर्यादाएं चिंताएं छोड़ के उन्होंने उनको तो गले लगा तो ऐसे आंसू आए निषाद राज जी के बोलते हैं यार हम तो क्या भयंकर पाप करने वाले थे तो बाकी आपने तो हमको ये विद्या दे दी सात्विक राजसी तामसी पहुंच समझने की और साथ साथ एक और चीज समझ में आई बुजुर्गों की बात भैया समझ लेना चाहिए कई बार बड़े भयंकर पाप से बचा लेते हैं है? हाँ? जिस घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं पुराने अनुभव होते हैं बहुत ही उनको कृपा होती है जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे रहस्य बताते हैं तो वो जो है सात्विक मन को पहचानने के तरीके पूरी संस्कृति हम लोग की ऐसी आज भी हम लोग अनेकों खाद्य खाद्य भोजन पानी में उठने बैठने में आचरण में भजन पूजन में सदैव सोचते हैं ना भैया ये सात्विक ये सात्विक बड़ी बड़ी विद्या है सात्विक मन को करने से आपका जीवन स्वस्थ होता है हर चीज में ये गणित लगनी पड़ती है कि सात्विक कैसे बनो और अगर आप भगवान का पाठ कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं वहां पे भी ध्यान रखने की चीज होती है कि हमारी इस पूजा से इस पाठ से इस भजन से हम मन को सात्विक बनाने की दिशा में आगे हमारी गति होनी चाहिए सात्विक करने की रहस्य ये होता है कि आप भगवान का मन में स्थिरता से ध्यान करो और कृतज्ञता लाओ कृतज्ञता जो है सात्विकता को जगाने की सबसे फूल प्रूफ चीज होती है प्रामाणिक चीज होती है अगर आदमी कृतज्ञता नहीं अपने अंदर जगाता है और कुछ भी करता है नित्य पूजा करे पाठ करे भोजन का भी जो है ध्यान रखे लेकिन सात्विक नहीं हो पाता अगर कृतज्ञता लाता है तो निश्चित रूप से गारंटीड होती है कि मन सात्विक हो जाता है कृतज्ञता हमारे ऊपर किसी की कृपा का हाथ है हम जीवन में जो भी हैं भगवान की कृपा से हैं अहो भाग्य है महाराज जी प्रभु हमको मनुष्य जीवन दिया हमको आपने अच्छे जो है खाते पीते ऐसा शरीर दे दिया जीवन दे दिया अच्छे लोग हमको जीवन में दे दिए भगवान हम्म। आज हम इज्जत से जी रहे हैं हमारे स्वजन हैं आप देखने चलो तो आपको जीवन में अनेकों जगह कृपाएं बरसती दिखाई पड़ती है एक भजन है ना राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे तू क्यों खड़ा ओट में पगले भीगन के डर से राम रस बरसे बरस की कृपा देखना है ज्यादा बड़ी विशिष्टता इसमें नहीं होती है कि हमने कुछ और एक नई चीज प्राप्त कर ली कर लो रे यार तुम्हारे जीवन में जो आवश्यकता है कर लो लेकिन ज्यादा बुद्धिमत्ता इसमें होती है कि आज तुम्हारे ऊपर क्या क्या कृपाएं बरस रही हैं वो देख तो पाओ पता नहीं हो जाओ नहीं धन्य हो तो पूरे जो है इंद्र के साम्राज्य को स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी दीन रहो सब प्राप्ति कर लेते हैं देखो लखपति करोड़पति अरबपति लोग हैं तब भी बेचैन रहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए अरे भैया कभी तो खुश रहो कभी तो फुल स्टॉप लगाओ फुल स्टॉप नहीं कॉमा ही लगा दो यार कभी कभी <laughs> लेकिन पागलपना होता है ऐसे जो है जुनून सवार होता है मन के अंदर असंतुष्टि की ऐसी ज्वाला घुटन होती है हम्म? महलों में भी रह रहे हो ना अब भगवान की कृपा से हमने एक आध को देखा है निकट में जाके और जब से टीवी आ गया है तो तो आप सब लोगों को घर घर की कहानी पता लग गई ना पोल खुल गई सबकी हर झगड़ा करने के लिए नया मेकअप करके आती है हमारी आधुनिक जयललिताएं इतनी चप्पल इतनी साड़ी का नंबर कब आएगा ये भी नहीं पता लेता है हम्म? इन चीजों में इतना दिखावा ऐसे जो है पागलपना लेकिन संतुष्टि नहीं है संतुष्टि हो खुश हो मस्त हो धन्य हो शांत हो कभी आंख उठा के प्रसन्नता से दुनिया भी देखो कभी पक्षियों का कलरव भी सुनो कभी सूर्य का उदय भी देखो कभी सुंदर चंद्रमा देखो तारे देखो हम्म, एक सज्जन यहाँ आश्रम आए बम्बई से उन्होंने छत पे सुलाया पहले यही छत थी बहुत पानी लीकेज होता था तो ये लगवा दिया भगवान की कृपा से हॉल ही बन गया है हाँ, वो इरादे उरादे कुछ नहीं थे ये सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है हमारे वहां तो यहीं सो रहे थे तो बढ़िया चंद्रमा निकला था उसने स्वामी जी इंदौर में बड़ा अच्छा चंद्रमा होता है हमारे बंबई में होता नहीं अरे यार तुम भी क्या आदमी हो क्या बंबई किसी दूसरे ग्रह में है वहां के दूसरे चंद्रमा है क्या है? तुमने बंबई में आज तक इतने बाल सफेद हो गए बंबई को चंद्रमा ही नहीं देखा यार क्या जीवन रहा है तुम्हारा पूरा इतना ऊंचा सर करेंगे करेंगे नहीं मिला ये नहीं मिला भगवान उसने ज्यादा ले लिया हमने कम ले लिया उसको ज्यादा किसी तरह से कम करो और हमको नहीं देना नहीं दे उसको तो गिरा गया नीचे ऐसा तिगड़नी मन ये राजसी मन ये लोग कहाँ देखते हैं कभी इन लोगों को प्रवचन में ले आओ तो फिर क्या सुनते होंगे आप ही समझते हो हमको भी लगता है भैंस के सामने बीन बजा दी खत्म हो गया बोला हाँ महाराज खोतम प्रसाद लाओ <laughs> इसीलिए भैया पूजा वूजा में कथा में प्रसाद जरूर रखते हैं हम लोग हम्म, क्योंकि अनेकों लोग सब भजन के लिए नहीं आते हैं हमको भी ज्ञान है <laughs> तो वहाँ पे दाने वाने डालने पड़ते हैं और फिर बच्चों का भी प्रारंभ यहाँ से ही होता है और कई बड़े भी बड़े होते ही नहीं वो भी बच्चे ही रहते हैं और एक दो बार प्रसाद ना तो बोलते हैं क्या मंदिर प्रसाद ही नहीं देते हैं तो मंदिर है और अनेकों भक्तों की चर्चा होती है यहाँ वेंकटेश मंदिर वहां से भक्त आते हैं बोलते हैं स्वामी जी सबसे हलवा मिलता है वहां पर हाँ बोला डेली जाते हो डेली जाता हूँ जब से पता लग गया हलवा मिलता है डेली जाता हूँ हमने भी सोचा यार कुछ हलवा हलवा बनवाया जाए यहाँ पर भी कुछ कर <laughs> लेकिन फिर सोचा कि हम लोग उस चक्कर में काहे पड़े हम जो सात्विक बन चुके हैं उनके लिए ही है हमको पूरी प्रक्रिया से गुजारना अब वो बड़ा रगड़ा हमारे लिए एनी anyway, ये जो सात्विकता होती है सात्विकता जगाना हमारे भजन का कीर्तन का जप का पूजा का सबका प्रयोजन निश्चय कर लेना चाहिए और ये जिस समय आपको पता होता है तब आपको भजन पूजन के प्रारंभ में ध्यान की महिमा पता लगती है हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं हमको याद है अब मैं समझता हूँ भटक गया हूँ <laughs> महाराज जी आप तो हनुमान चालीसा पे सुमरों शब्द पे थे आप कहाँ सात्विक राजसिक पे पहुंच गए बोलते नहीं जुड़े हुई बात महत्वपूर्ण चीज सुमिरो पवन कुमार हे भगवान आपका स्मरण करते हैं आपका ध्यान करते हैं सदैव हनुमान चालीसा के प्रारंभ में आग बंद करके भगवान का एक रूप लाओ बहुत ही आनंद तो ये सोचो जैसे देश का झंडा लाते हैं ना कि ये हमारे देश की गरिमा महिमा का सूचक है और उसको हम नमन करते हैं सलूट करते हैं हमारे भगवान इष्ट देवता को ला के इन्होंने हमको ये जीवन दिया इन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है हमारी समस्त उपलब्धियां हमारी समस्त खुशियां वो सब भगवान की वजह से हैं हमारी कमियां वो भगवान की वजह नहीं है वो हमारी मूर्खता की वजह से पीड़ाएं समस्याएं हमारे अज्ञान हमारे अभिमान हमारे विकार उनके वजह से होते हैं और जो भी खुशियां हैं वो सदैव भगवान के क्योंकि हम लोग खुद दिल में जानते हैं कि ऐसी घटना घटित तो हो गई बस परिस्थिति आ गई मिल गया और बगैर किसी कारण के कभी कार्य होता ही नहीं है वही कारण है तो देखो और इसी धन्यता से कृतज्ञता से खुश होके संतुष्ट होके ऐसे ध्यान करके फिर पाठ करो फिर आप देखो पाठ के बाद जो है कैसे दिल के फूल खिल जाते हैं कैसे और आनंद की वृद्धि हो जाती है अगर सात्विकता को ला के एक सिद्धांत होता है जिससे प्रारंभ करो ना उसकी वृद्धि होती है गुस्से से प्रारंभ करो तो बाय द टाइम आपकी पूजा खत्म होगी तो और भयंकर हो जाएगा कामना से प्रारंभ करो और विकराल हो जाएगी जिससे भी आप प्रारंभ करते हो अपना पाठ अपना भजन अपना ध्यान अपना पूजन वो वृत्ति वो भावना तीव्र हो जाती है इसीलिए सीधे पाठ करने के बजाय पहले थोड़ी देर रुक के कृतज्ञता से ध्यान करो दो पल रुक जाओ और मन में धन्यता संतुष्टि सहज रूप से आपका सर झुक जाए हाथ जुड़ जाए प्रभु धन है क्या कृपा है भगवान से फॉर्मेलिटी नहीं चलती वहां पे नकली नहीं है आप तो बड़ी कृपा है बोलते हैं असली क्या पता है असली दिन में हमको सब दिख रहा है हम बैठे हैं तुम्हारे दिल में ही आए हमसे क्या छुपेगा इसीलिए जो करो सच्चाई से करो दिल से महसूस करो और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ से पूछो महाराज जी ये गठान है ये समस्या है ये नहीं सुलझ रही है कैसे हम इसको सुलझाएं और मन के अंदर शांति प्रसन्नता धन्यता सात्विकता तो सात्विकता को लाने के लिए प्रसन्नता को लाने के लिए संतुष्टि को लाने के लिए चित्त को समाहित करने के लिए एकाग्र करने के लिए किसी भी सत्कार्य से पूर्व आदमी को ध्यान करना चाहिए सुमिरो पवन कुमार तो ये नियम बना लो आप लोग सब भक्त लोग हैं भगवान की बड़े कृपा के पात्र हैं इतना बढ़िया भजन करते हैं पाठ करते हैं लेकिन ये हम लोगों को संतों से रहस्य पता लगते हैं इसका भी समावेश करके देखो आप सुमिरो पवन कुमार आंख बंद करे एक रूप और एक ही नाम उसी का जप करना चाहिए हम्म? तो जो भी हमारे गुरु लोग देते हैं संत लोग देते हैं वैसे तो वेदों के द्वारा दिए हुए सभी पवित्र होते हैं लेकिन तो भी गुरु से ही लेना चाहिए जैसे होता है ना सभी भैया जितनी दवाइयां हैं सभी कोई ना कोई रोग को ठीक करती हैं लेकिन मर्यादा क्या है डॉक्टर साहब से पूछना यार सबके साइड इफेक्ट भी होते हैं हाँ? कैसे कैसे होते हैं अभी तो पिक्चर का नाम देखा शादी के साइड इफेक्ट <laughs> हमने बोला अच्छा यार हमने नहीं करी मेन <laughs> इफेक्ट के चक्कर में साइड इफेक्ट तो पता ही नहीं क्या क्या होते हैं अब उन्होंने पिक्चर ही बना दी यार अच्छा तो हाँ? हर चीज का कोई प्रभाव होता है तो यहां पर मंत्र सब अच्छे होते हैं लेकिन हर मंत्र हम लोग को जैसे विशेषज्ञ से औषधि लेते हैं वैसे विशेषज्ञ से ही मंत्र का आशीर्वाद लेना चाहिए उनके मंत्र की दीक्षा के द्वारा हम लोगों को उनकी भी तपस्या का मार्गदर्शन का लाभ मिलता है और इस तरीके से यहाँ पर जो है वह मंत्र एक नाम रेप रूप तो इस तरीके से यहां पर इस सोरठे में ध्यान पूर्वक एक चीज जो बहुत विशेष सोरठे में प्रारंभ से बताई जाती है बुद्धि ही रतनु जान के सुमिरो पवन कुमार विनम्रता से ही भजन होता है, है? हाँ? पूरा दिल से एहसास होना चाहिए कि जीवन में बहुत कुछ जानना शेष है अभी तो हमको बहुत कम पता है जिसको बहुत पता होता है ना उसी के मन में ये एहसास आता है कि यार अभी तो बहुत ही कम पता है और जिसको अभी ये ज्ञान नहीं है कि कितना कोई ज्ञान होता है अब हमको याद है कि अनेकों लोग पुराने पहले के जमाने में आजकल तो बहुत पढ़े लिखे हो गए सीधे बोलते थे हाई स्कूल हाई स्कूल पास नहीं हाई स्कूल फेल गांव में अनेकों लोग होते थे बोलते हैं स्वामी जी ये जो है ना हाई स्कूल फेल है बोले यार बोलने की क्या जरूरत है हाई स्कूल गए तो थे ना फेल हो गए अलग बात हाई स्कूल तक गए थे और वो आदमी तो ऐसे उसके पैर नहीं पड़ते हैं अनेकों जगह सब के अंधों में काने राजा बड़े ज्ञानी है सब पढ़ लेता हूं और हमारे टीवी में इस साक्षरता अभियान की तो पराकाष्ठा क्या है साइन कर लेती है साइन कर लेती भैया अरे अच्छी बात है यार साइन वाइन कर लेती लेकिन साइन करने से कोई व्यक्ति जो है ज्ञानवान हो जाएगा क्या तुम्हारे कागज हो जाएंगे बैंक अकाउंट हो जाएंगे चलो तुम थोड़े पढ़ लिख लोगे तुम्हारा षड्यंत्र लोग शोषण कम करेंगे अच्छी बात है लेकिन ज्ञान की महिमा होनी चाहिए ज्ञान का एक हमने न्यूटन के बारे में बड़े भारी वैज्ञानिक थे उनका वाक्य पढ़ा कि हमारे पास जितना ज्ञान है भैया ज्ञान के समुद्र के किनारे खड़े हुए हम केवल कुछ कंकड़ बीन के लाए ये न्यूटन का वाक्य जिनके सिद्धांतों से जो मैकेनिस्टिक साइंस थी पचास साल तक वो उसके पिता तुल्य पितामह बने रहे थे क्या विनम्रता से देखते हैं कुछ नहीं ज्ञान है अभी तो हम थोड़ा बहुत समझ तो आदमी को जीवन में बड़ा समझना पड़ता है इसीलिए सत्संग करना चाहिए सत्संग करने से सत्संग मतलब केवल अपने शास्त्रों का ही नहीं कोई भी विद्वानों का साथ हो अच्छे कवियों का साथ हो अच्छे साहित्य देखो किसी क्षेत्र के विद्वान जिस समय आप उनके साथ उठते बैठते हैं ना तो ये पता लग जाता है कि यार कितना जानना शेष है ये तो हम तो कहाँ खड़े हुए हैं ज्ञान की हम लोगों के देश में बड़ी महिमा रही है सत्संग की महिमा शास्त्र की महिमा घर में संतों को बुला लेते हैं वहां पे भिक्षा खिलाते हैं काहे के लिए ज्ञान की महिमा है पाठ करते हैं काहे के लिए ज्ञान की महिमा है ज्ञान की महिमा के अनेकों चीजें होती हैं हर व्यक्ति को अच्छे लोगों के साथ बुद्धिमानों के साथ अपना बैठना चाहिए पहले के समय तो टीवी शीवी थोड़ी होता था आज पता सबसे बड़ा मनोरंजन क्या होता था वो शंकराचार्य जी जिस समय उनकी कहानियां जीवन कथा पढ़ रहे थे हम लोग अभी तो वो निकले चारों देश में चारों तरफ अपने धर्म की स्थापना कर रहे थे तो शास्त्रार्थ जो है वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा मनोरंजन का तरीका पब्लिक के लिए होता था तो कोई दो विद्वान लोग बैठ के किसी बिंदु पर चर्चा पूरी पब्लिक आती थी गांव आ जाता था सब बैठ के सुनते थे भजन हो रहा है प्रार्थना हो रही है और फिर चर्चा हो रही है महाराज जी प्रारब्ध महान होता है कि पुरुषार्थ सब किस्मत से चलता है कि जो कुछ हमारा कर्म भी है अब एक पॉइंट ले लिया बढ़िया चर्चा चल रही राम जी ने भी जो है वह वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज जी सब लिखा हुआ है क्या कि कोई इंसान के हाथ में भी कुछ होता है और उन्होंने पूरी व्याख्या करी रहस्य बताया योग वशिष्ठ नाम की जो रामायण है रामायण का जो पूर्व रामायण है ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना राम जी बड़े हो गए और लीला कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं उसके पूर्व में वशिष्ठ जी के पास जो उनको शिक्षा मिली वो वशिष्ठ योग वशिष्ठ करके ग्रंथ है उसको वशिष्ठ रामायण भी बोलते हैं राम जी ने सीखा क्या है कौन से ज्ञान से हमारे राम जी राम बन गए सब उसमें है तो उसमें ऐसी चर्चाएं आती तो शास्त्रार्थ में कोई ना कोई बिंदु ऐसे ले लेते हैं और सब लोग उसको सुन रहे हैं और प्रबुद्ध हो रहे हैं संघों की दृष्टि सही हो रही है तो अनेकों बड़े लोगों के साथ उसमें बैठने से नित्य शास्त्र का पाठ करने से जो रामायण पढ़ता है डेली उसको पता चल जाता है कितना ज्यादा जानने को बचा हुआ है कभी इस चक्कर में अभिमाने में नहीं आता है कि हमने जान लिया सब हम्म। कई लोगों को मिलते हैं बड़े विनम्र होते हैं बहुत ही जिज्ञासु होते हैं सदैव चिंतन मनन अच्छा साथ और कुछ लोगों को मिलते हैं वो तो ऐसे नाक ऊपर ही रहती है उनकी अगड़े रहते हैं सब जान लिया महाराज जी आपकी भी नस नस पहचानता हूं <laughs> आपको तो भी हम बताएं ये होगा ये होगा ये चक्कर है वो चक्कर है सभी जानते हैं बोला ठीक है भैया आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम हम तो नहीं जानते यार हम तो भी सीख रहे हैं बहुत जानने के बाद बड़े सत्संग के बाद पता लगता है कि बड़ा कम जानते हैं और हम तो भैया सब लोगों को निवेदन करते हैं इसको बड़ी मासूमियत को दिल में बनाए रखना अभिमान मत आने देना हाँ, हो गया बना जी सब जान लिया तो मरोगे उस दिल से जीवन का पतन हो जाएगा ना हमारे हनुमान जी में ऐसा ना हमारे राम जी में ऐसा ना हमारे कोई भी आदर्शों में ऐसा बल्कि हमारी कथाएं ये बताती हैं कि जहां अभिमान हुआ रावण की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी क्या बोलते हैं रावण महाअभिमानी शुरुआत में एक बार बड़ा वेदों का ज्ञान प्राप्त करा था ब्राह्मण आदमी था रावण की कथा दिखाती है कि जस्ट बिकॉज ब्राह्मण पैदा हुआ था इसीलिए सदैव ज्ञानी बुद्धिमान था ऐसा न समझना ज्ञान से विनम्रता नहीं हुई ज्ञान से अभिमान हो गया और तभी रावण की मृत्यु हो गई थी असली आध्यात्मिक मृत्यु तो तभी हो गई थी बाकी तो औपचारिकता राम जी ने पूरी करी आके मरे हुए को उन्होंने मार दिया वो तो विकास तो होना ही नहीं है जीवन में उसका जिसके अंदर अभिमान हो जाता है उसका विकास कुंठित हो जाता है इसीलिए हम लोग के संतों ने ऐसी अपने को निमित्त बना के ही दृष्टांत बना के कथा करते हैं हम लोग नारद जी की कथा सुनते हैं ना एक बार हिमालय में उनको बैठे थे समाधि लग गई और कहा हमारे इंद्र देवता चिंतित हो जाते हैं कोई बड़ा पुण्य का काम करता है ना तो इंद्र देवता चिंतित हो जाते हैं यार इतना पुण्य कमा रहा है हमारी कुर्सी खतरे में है? तो जल्दी से कामना उत्पन्न करो इसकी समाधि वाधि भंग करो यार समाधि समाधि से बहुत पुण्य मिलता है ये एक और प्रमाण है कि सुमिरों करते रहो भैया ध्यान सवेरे कर लो डेली का पुण्य जेब में आ जाता है थोड़ी देर ध्यान दो इंद्र देवता जानते हैं तो वो इंद्र देवता ने देखा कि यार नारद जी की तो बड़ी जोरदार समाधि लगी हुई है तो धड़ाधड़ पुण्य आ रहा है इनको तो बुलाया जाए मिशन कामदेव मिशन कामदेव आया कामदेव ऐसे जो है उनको बुलाए जाते हैं बोलते हैं किसी भी तरह से कि समाधि भंग कर जाके और हम लोग जानते हैं जब भी पूजा ध्यान करेंगे बाधा वही मिशन कामदेव ही होता है काम नहीं आ जाती कोई नहीं बैठे सवेरे ध्यान करने के लिए फिर सोचा कि यार अगर चाय पी के बैठे तो कितना अच्छा है समाधि माधि घर किनारे करी चलो जरा रसोई पे चल के चाय बना लेते हैं चाय पी के ध्यान करेंगे और फिर चाय पी के ध्यान करें चाय तो पी ली बिस्किट नहीं खाया यार एसिडिटी हो जाएगी तो चलो एक बाधा कहाँ आती कोई ना कोई काम नहीं तो आ जाती है ना और क्या समस्या है तो उनको भेजा गया नारद जी बैठे हुए ध्यान तो उन्होंने बहुत ही वहां पे गीत संगीत नृत्य और बिल्कुल ही सुंदर समीर पवन बह रही है और चिड़िया चहकने लगती हैं और ऐसी कामना आने के तरीके होते हैं तो बड़ा रोमांटिक वातावरण हो जाता है कामना उत्पन्न हो जाती है तो बहुत कुछ कर लिया कुछ नहीं हुआ नारद जी के टस से वर्ष नहीं तो उसने सोचा यार ये तो ऋषि है नारद जी देव ऋषि ठहरे हम क्या खोकर के मूर्खता कर रहे हैं इनके अंदर कामना उत्पन्न कर तो उसने क्षमा मांगी प्रणाम करा जाके और जहां प्रणाम करा तब तो जाके उनकी आंख खुली उस समय कोई बात नहीं हमको पता है भाई इंद्र देवता की चिंताएं असुरक्षाएं हमको पता है जब क्षमा करते जाओ कोई बात नहीं वो तो चले गए लेकिन उसके बाद नारद जी के मन में विचार आया भाया नारद जी तुम्हारे अंदर तो कामना भी नहीं आई और क्रोध भी नहीं आया उनको पता क्या याद आया शिव जी का बोला शिव जी के मन के अंदर कामना लाने के चक्कर में कामना तो नहीं आई थी लेकिन क्रोध आ गया था और तीसरी आंख खोल दी थी उन्होंने और फिर कामदेव भस्मीभूत हो गए थे नारद जी आपके अंदर तो क्रोध भी नहीं आया और नारद जी को देखो अभिमान ऐसा होता है कि जब अभिमान आता है ना अकेले से अभिमान की मजे नहीं आता जब तक बताओ नहीं किसी को अभिमान को रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है जंगल में बैठ के अभिमान करो तो क्या मजा है लंबी गाड़ी लेके जंगल में पड़े हुए उस शहर में निकलना पड़ेगा ना तभी जाके तो अभिमान का मजा आएगा तो पूछे आगे देखी नहीं लाए हो बस मजा आ गया तृप्त हो गए पैसे वसूल अगर तुमको पूछा नहीं किसी ने क्या फायदा हुआ तो नारद जी ने सोचा चलो यार समाधि तो लगा ली काफी लगा ली अब चलो जरा सीधे जाके शिव जी के पास नारायण नारायण लवनी को पहले बताते हैं हे भगवान ऐसा हुआ कि समाधि लगाए थे कामदेव आ गए और बड़े नाक रगड़ने लगे फिर हमने क्षमा कर महाराज जी समझ रहे हैं ना आप क्षमा अब भगवान शंकर मुस्कराए बोले हाँ समझ तो रहे मतलब क्या है आपका हाँ समझे नहीं ना हाँ देखो क्रोध नहीं आया महाराज क्रोध नहीं आया क्षमा कर दिया मैंने उनको <laughs> भगवान शंकर बोलते हैं अरे श्री नारे जी आप के अंदर कहाँ काम क्रोध आ सकता है वो तो अज्ञानी आदमी काम करता वो घटना आपके अंदर कामना उत्पन्न करवा रहा है आपको देव ऋषि ठहरे लेकिन हमारी एक सलाह है बोले आप विष्णु भगवान को मत बताना है देखा ते चाहते हमारी महिमा का चारों तरफ पता न लगे ऐसा पलटता है भैया अभिमान हमारी बुद्धि को सत्यानाश करते तो बोला ठीक है मुस्कराए कुछ बोले नहीं बोला जो उचित है वही करूंगा <laughs> बताएंगे नहीं क्या करेंगे नारायण नारायण देखे पहुंच गए भगवान विष्णु देवता भगवान विष्णु उनके इष्ट देवता और इष्ट देवता के ऊपर जिम्मेदारी होती है जैसे अपने फैमिली फिजिशियन होते हैं ना इष्ट देवता हमारे पर्सनल देवता होते हैं बाकी लोग तो ठीक है वो प्रार्थना कर लेंगे चलो जा तेरा कल्याण हो बोलते हैं हमारे में ऐसा नहीं बोलते हैं जिसको जैसे गुरु हैं अब जिसके आप शिष्य हैं गुरु को तो आपका उपचार करना पड़ेगा ना इष्ट देवता की जिम्मेदारी होती है कि उनके विकार को दूर करना और जिसको जो अभिमान होता है ना अब थोड़ी देर शांत बैठ के उसको बोलने दो पॉइंट के ऊपर आ जाएगा वो हाँ क्या हाल है मौसम अच्छा है बोलते हाँ ठीक है तो ऐसा हुआ महाराज जी हम समाधि में बैठे हुए आगे बिंदु पे आगे और फिर वो काम देवता आए थे और फिर मुझे तो कामना तो आनी नहीं थी और फिर क्रोध भी नहीं आया ओ चरणों में गिर गए महाराज जी मैंने क्षमा कर दिया भगवान विष्णु बोलते हरे राम फंस गया बेचारा नारद जी है देव ऋषि है लेकिन इनके अंदर भी काम और क्रोध जीतने का अभिमान आ गया अभिमान आ गया तो इसका पतन चल हो जाएगा अब इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है किसी तरह से रक्षा करेंगे तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आपका कल्याण हो और सत्य देव ध्यान रखना भजन करते रहो ये सब बात बताई और फिर वो बड़े संतुष्ट हो गए अब देखो भगवान शंकर को बता दिया भगवान विष्णु को बता दिया अब हम चलते हैं दुनिया को बताने निकले दुनिया को बताने तो भगवान विष्णु ने तब तक बोला इसके लिए तो कुछ करना है भैया क्या करा जाए तो सोचा बोला जिस चीज का अभिमान होता है व्यक्ति को वो ही चीज प्रचुर मात्रा में दे दी जाए तो विकार अभिमान के पता लग जाते हैं बड़ा काम जीत लिया काम जीत लिया इसका अभिमान है ना तो थोड़ी ज्यादा काम ना दे दो देखो उसका दिमाग पलट जाएगा पता लग जाए यार काम मारे गए हम जबरदस्ती हाँ? क्रोध जीत लिया क्रोध जीत लिया तो ऐसी परिस्थिति दे दो क्रोध आ जाएगा तो जमीन पे आ जाएगा हवा में उड़ रहा था जीत लिया जीत लिया लैंड हो जाता है तो ये सिस्टम होता है हमारे संत लोग भी अपनाते हैं भगवान भी अपनाते हैं तो भगवान ने बोला ठीक है बेटा काम जीता क्रोध जीता है ना अभी देता हूं हम्म। और उन्होंने अपनी जो है माया से एक नगरी बना दी और उस नगरी के बहुत महान राजा थे और उनकी एक पुत्री थी विश्व मोहिनी बड़ी सुंदर अत्यंत तो नारद जी जा रहे थे नगरी दिखाई पड़ी तो वहां पे उनके गार्डों को पता लग गया देव ऋषि नारद पहुंचे हैं और फटाफट राजा के पास संदेशा गया और राजा खुद आए बोला महाराज जी आप बड़े अच्छे समय आए हमारी पुत्री की शादी हो रही है आपका आशीर्वाद मिल जाएगा आप पधारिये और आशीर्वाद दीजिए तो उनको ले गए और बड़ा बढ़िया व्यवस्था करी भोजन पानी रहने की और बोला ये उसकी पत्री है महाराज तो पत्री दिखाई गई तो पत्री देखी इन्होंने बोला है तो बड़ी अद्भुत लड़की है कितनी सुंदर और जो भी इसके साथ शादी करेगा वो तो बहुत ज्ञानी होगा बड़ा शक्तिशाली होगा सर्व ऐश्वर्य संपन्न होगा ऐसा होगा नारद जी ने सोचा आज तक ब्रह्मचारी है आइडिया बुरा नहीं है <laughs> हाँ। आज तक शायद भगवान ने इसीलिए हमको रोक रखा था अभी तक शादी नहीं हुई हम्म? और राइट मिल गई है देखो अच्छी धार्मिक है हमारा लक्ष्य भी नहीं खराब होगा क्योंकि हम ज्ञानी बनेंगे इसके साथ जो शादी कर लेगा वो ज्ञानी भी होगा शक्तिशाली होगा ईश्वर संपन्न होगा सब हो जाएगा तो नारायण जी ने सोचा अब स्वयंवर है अब हमारे इस रूप से तो कोई चांस ही नहीं है और फिर उन्होंने देखो आदमी के अभिमान कैसा जड़ बना देता है इंसान को जिन भगवान विष्णु के पास जाके डींगे हाके आ रहे थे अरे कौन चीज क्रोध वही ध्यान करा होगा भगवान प्रकट हो गए हाँ नाराज जी कैसे याद करा आपने उसे भगवान थोड़ी देर के लिए अपना रूप दे दीजिए हाँ, हमारा रूप क्या करोगे हमारा तुम्हारा अच्छा है स्वस्थ हो हाँ, हट्टे कट्टे हो भजन गाते हो थोड़ी देर के और बता तो दो हमारा जी ऐसा ऐसा है स्वयंवर है अब विचार हो गया है बाप की कृपा से हाँ, अब ब्रह्मचारी बहुत दिन रहे हैं अब गृहस्थ आश्रम भी देश में बड़ी अच्छी है वो हमारा ऐसा भी नहीं है ज्ञान का लक्ष्य खराब हो जाएगा महाराज जी हमने सोच लिया विचार लिया हम अपने ज्ञान के पथ पे भजन के पथ पे भी लगे रहेंगे और अब जो जीवन को पूरा समग्रता से देखने भी दो महाराज जी बाप की कृपा है भगवान विष्णु मुस्कुराए बोलते हैं ठीक है नारद जी वही करूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा बड़ी गंभीर वचन वही करूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा इस समय नारद जी का तो सिंगल पॉइंट प्रोग्राम था हमारा तो हित इसी में है कि शादी हो जाए बस हमारी तो वो गए बैठ जाए के बाकायदा संवर में अब तो नारद जी तो साथ में आसमान में भगवान विष्णु से सुंदर होता ही नहीं दुनिया में कोई सबसे सुंदर तम होते आराम से टोटल कॉन्फिडेंस कि अब तो विश्व मोहिनी दंदनाते हुए हमें फंसाई गया और सीधे गले में हम जयमाल डाल देगी बैठे और ऐसे ही हुआ दंदनाते हुए वहां तक पहुंच गई और जहां नारद जी बैठे थे वहां पे नाक सिकोड़ी उससे मुंह टेढ़ा करा और आगे चली गई ये ऐसे दिल मिला है बोले ये क्या हो भगवान विष्णु जैसी सुंदरता देख के भी मोहित नहीं हुई बल्कि नाक तोड़ दी उसने और आगे गए वहां पे किसी को जयमाल भी डाल दिया बड़े तिल मिला रहे थे विक्षिप्त थे समझ नहीं पा रहे थे क्या हो गया ये पीछे दो रुद्रगण बैठे हुए थे बोलते कहां कहां से चले आते हैं यार अपनी शक्ल देखो जाके बंदर जैसा मुंह बना के बैठे हुए पे तुमको परमिशन कैसे दी यहां आने की किसी ने तो बंदर जैसा हमारा उठ के देखा तो लोग बैठे हुए से रहते हैं सीधे उनको श्राप दिया जाओ अच्छा, बंदर बन जा जाके नालायक हमको बंदर बोलता है तो पहले तो बंदर बना दिया तो इनको जब लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो भैया हाँ, ये हंस भी रहा है वो भी नहीं रुकी तो आंख पे गए पीछे पानी वानी था वहां की शक्ल देखी हे राम उनकी गुस्सा का कोई अंत नहीं था बंदर की ही शक्ल थी और भगवान ने अपने भक्त को बोला था कि मैं वही करूंगा जो तेरा तेरा हित होगा अब तो पहले तो काम में आई थी अब तो ऐसी गुस्सा आई उनको अभी जाता हूं अभी निपटता हूं उन्होंने समझ क्या रखा है भगवान विष्णु के ऊपर दम दनाते हुए फौजी की तरह से पहले तो वीणा यूं पकड़ते थे क्यों पकड़ तेजी से फौजी जनरल जैसे डंडा लेके जाते हैं ना ऐसे तेजी से खटपट खटपट खटपट जा रहे थे और भगवान विष्णु आगे मिल गए वो जा रहे थे एक तरफ लक्ष्मी जी थी दूसरी तरफ वही आके बैठ गए थे विश्व मोहिनी को बिहार के लेकर और जब उनके पास पहुंचे तो सुनते नारद जी कहाँ जा रहे हो बड़ी तेजी से अब बता दो तो लिमिट क्रॉस हो गई भैया अब उन्होंने बोला कि आपने समझ गया रखा है हम्म, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई आपके ऊपर कोई बैठा नहीं हुआ है तो जो मन मर्जी करते रहते हो आपने गलत आदमी से पंगा लिया है भगवान और ऐसा उनको खरी खोटी सुनाई है बोला एक स्त्री के लिए हमको तड़पाया है जाओ स्त्री के लिए तड़पोगे जाके बंदर का मुंह दिया है बंदर से ही मदद लेनी पड़ेगी आपको हाँ? अब वो सब दुनिया भर की बातें ऐसा क्रोध की भक्त अपने भगवान को श्राप दे रहा है और वही व्यक्ति जो अभिमान जीतने का अभिमान कर रहा था वही व्यक्ति जो कामना जीतने का अभिमान कर रहा था ऐसी दुर्गति हो जाती है अभिमान कैसा पतन लाता है वृद्धि में ऐसे दबे पांव आता है क्या हो गया है क्या बात है कौन कौन हमारे जैसा है सदृशो मया हमारे जैसा कौन है ऐसी दुर्दशा हो जाती है जिस समय उन्होंने साफ बाप दे दिया तो भगवान ने माया अपनी खींच ली माया से विस्तार करा हुआ था तब इनको समझ में आया अरे मैंने क्या कर दिया भगवान क्षमा करिएगा हमको काम का क्रोध का अभिमान हो गया था आपने ऐसी हमारी दुर्दशा कर दी कि जीवन भर काम क्रोध का अभिमान कभी करूंगा नहीं अब बड़ा काम पकड़ता हूं लेकिन भगवान मैंने जो ये कह दिया है तो उसका क्या होगा हम्म? हमारे वचन हो गए बोलते हैं आप चिंता मत करो एनी वे जाना ही था हमको यार कोई ना कोई बहाना चाहिए था जाने का हमारे बहुत भक्त लोग बुला रहे हैं बहुत दिन से भगवान दर्शन दो घनश्याम हे राम घन बोलते हमको जाना है बहुत सारे भक्त लोग मांग रहे हैं और एक रावण भी बड़ा आतंक कर रहा है तो हमको जाना है और वहां पे तुमने भूमिका बना दी हमारा काम आसान हो गया कोई बात नहीं कोई उसकी चिंता मत करो यार हम निपटेंगे लेकिन तुम्हारा अभिमान दूर हो गया उसकी हमको खुशी और ध्यान रखना अरे बोलते हैं भगवान ध्यान रखना बोलूंगा नहीं कभी ये तो ऐसा लेसन दिया है अब आपको बोलने की जरूरत थोड़ी है, ऐसा अभिमान की ज्ञान बंद हो जाता है सदुर्गुण आने लगते हैं मन की शांति होने लगती है दिखावा होने लगता है अपने अंदर शांति संतुष्टि सब गायब हो जाती है ये सब मुसीबत होती है अभिमान की हनुमान जी से हम लोग यही शिक्षा लेते हैं कि रावण की लंका का विजय करके आए थे और जब राम जी भी तारीफ करते हैं कि हाँ, हनुमान कैसे तुमने कर दिया क्या बात है गजब की बात करी हाँ? राम जी तारीफ कर रहे हैं उनके चरणों में गिर के बोलते हैं प्रभु हमारी रक्षा करिए हाँ? रावण से नहीं डरे उनकी तो नानियां दिला है हाँ। वहां पे तो गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर रहे थे स्मरण करके रात को सपना आ जाता था हनुमान जी का और वहां ये बोल के आए थे कि तो सबसे छोटा वानर है <laughs> बोले बाकी वो आने वाले हैं कैसे भयंकर होंगे हाँ। ऐसा मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त कर ली थी सब लंका को थर थर कपा दिया था उन्होंने सीता जी की खोज कर ली सीता जी को आश्वस्त कर दिया वहां से उनके भाई को ले आए यहाँ पे उनका जो है पूरी पोल खोलने वाला रहस्य पता लग गया उनके रावण के अनेकों लड़कों को सेनाओं को खत्म कर दिया सीता जी को चाहते तो खुद ले जाते बोला नहीं ये तो गरिमा से राम जी लेके जाएंगे आप तो चिंता मत करो माता जी हम लोग हैं तो पहुंच ही गए यहां सब कार्य अद्भुत सासम भरोसा कार्य उन्होंने कर दिया था अब राम जी की स्थिति सोचिए इतने समय से वो ढूंढ रहे हैं कोई पता नहीं मिल रहा है एक आदमी ने वन मैन आर्मी सब करके आ गए अनेकों समस्याएं समुद्र के उल्लंघन के समय ये राक्षस वो राक्षस देवताओं ने भी भेजा था सोरसा नाम अहिन कई माता देव सर्पों की माता देवताओं ने भेजी थी जाके परीक्षा लो जा रहा है रावण की लंका में अकल है कि नहीं है शक्ति है कि नहीं है सब परीक्षा उसकी दी सबको पास करते हुए वहां पहुंच के सब कार्य सफल करके आ गए भगवान की तो प्रसन्नता का कोई हद नहीं थी इतने खुश थे तो कैसे करा हनुमान जी लेकिन यही हम लोग सीखते हैं हनुमान जी से कोई अगली बात नहीं भगवान आप हमारी क्या तारीफ कर रहे हो भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ है हमको पूरे दिल से पता है कि आपकी कृपा से हुआ है वो होते होंगे कोई और लोग जो छोटी सी उपलब्धि हुई मार अपनी पीठ ठोकते ही नहीं रोकते मैंने कर दिया मैंने कर दिया और जाके वीणा लेके शिव जी के पास पहुंच गए और भगवान विष्णु पाल सुना आपने महाराज जी हनुमान जी को राम जी खुद तारीफ कर रहे हैं बोलते हैं भगवान हमने कुछ नहीं करा है भगवान पेड़ पे चढ़ गए थे वहां पे वो डाल टूट गई दो मर गए तो हमने थोड़ी तोड़ा है भगवान जबरदस्ती अब हम तो बोल रहे हैं मैंने तो आत्मसुरक्षा में केवल एक डांडी घुमाई थी पांच मर गए उसमें हम क्या करें ऐसे जो है कमजोर लोग थे वो लोग मर गए वो लोग हम्म। और मैंने कुछ नहीं जलाई हम तो पूछ बचा रहे थे भगवान पूछ जला दी गई थी बचा रहे थे पूरी लंका जल गई तो हम क्या करें भगवान अब बंदर की बात पूछ है अब पूछ बचाए नहीं तो क्या करें अब देखने का अंदाज है या तो कोई करते भगवान और पीठ हम लोग अपनी ठोकते हैं ये मूर्खता होती है अभिमान की जिस जिस का अभिमान होता है ना क्या रूप है दिया माता पिता ने यार तुम्हारी क्या खासियत है उसमें जिसका जो रूप है तुम्हारी कोई विशिष्टता नहीं you don't have a choice तुमसे पूछा बता क्या अलमारी थी तुम्हारे सामने कौन से लोग ये रूप यार किसी ने क्या पूछा ये माता पिता की कृपा से मिला ज्ञान गुरु की कृपा से मिला अनेकों सिद्धियां देवताओं की कृपा से मिली इसीलिए तो हम लोग तर्पण करते हैं देवताओं का तर्पण ऋषि तर्पण पितृ तर्पण उनकी कृपा से मिला है शरीर अकल सामर्थ्य सिद्धि तो हिंदू लोग ये सब कृपाओं की वर्षा देखते हैं इसीलिए अभिमान नहीं करते हैं आपके जनेऊ के तीन धागे इन्हीं तीन ऋणों का सूचक होते हैं सदैव ध्यान रखो कितनी कृपा बरस रही तीन धागे तीन कृपा के स्रोत दिखाते हैं देवताओं की कृपा है हमारे ऊपर पितरों की कृपा है हमारे ऊपर संतों की कृपा है हमारे ऊपर ये तीन कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और इन्हीं तीन चीजों का तर्पण करा जाता है तो ये अनेकों कृपाएं बरस रही हैं हम क्या कर रहे हैं कितनी विनम्रता से आदमी देख ले हम तो पात्र बने हैं कृपा के किसी के कृपा वृष्टि हो रही है हमारे ऊपर अभिमान आता ही नहीं है आज किसी न किसी को जो भी उपलब्धि हो दिल से सच्चाई से श्रेय देख लो और जिस समय आप नहीं देख पाते हो ना तो अभिमान आ जाता है और अभिमान आ जाता है तो फिर भगवान फिर बोलते हैं ठीक है यार तुम तो कर ही लेते हो ना तुम तो बड़े महान हो हाँ। कर लो एक वेदों में कहानी आती है कि देवता असुरों में लड़ाई हो गई तो शुरुआत में असुर लोग जीतने रहते हैं बड़े वो लोग ज्यादा पैशनेट होते हैं ज्यादा तेजस्वी होते हैं उनके लिए वो जीवन मरण का सवाल होता है तो बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी उन्होंने और उनको विजय प्राप्त करने लगे तो देवता जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं बल मांगते हैं आशीर्वाद मांगते हैं और फिर भगवान के आशीर्वाद से जीत जाते हैं यही कहानी होती है सभी इन सब प्रसंगों की संग्रामों की तो उन्होंने प्रार्थना करी जब हारने लगे तो भगवान से प्रार्थना करी बल दिया जीत गए लड़ाई लड़ाई जीतने के बाद कोई जो है ना भगवान को धन्यवाद नहीं कर रहा था उन्होंने पार्टी करी देवताओं ने एक जश्न पार्टी करी और खाना पीना और सब बढ़िया जो है सोमरस था टकरा रहे थे जो है एक दूसरे के हाँ? फिर मैंने ऐसा करा फिर मैंने ऐसा करा फिर मैंने उसको ऐसा भगाया फिर मैंने तो मूछों पे हाथ ही रखा था है भाग्य सब धीमे आग रहे थे इसलिए भगवान ने बोला है बड़े दुष्ट लोग हैं <laughs> अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास आए मदद मांगने के लिए इतना भी नहीं शिष्टाचार है यार भगवान आपकी कृपा से जीत गए एक नहीं बोला तो भगवान ने बोला कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी देवता लोग हैं अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो एक बड़ा यक्ष का रूप लेके प्रकट हो गया इतना चमकीला और प्रकाशमय रूप सामने आ गया पूरी पार्टी रुक गई म्यूजिक रुक गई कौन है तुम देखा है किसी को नहीं पता तो वहां पे अग्नि देवता काफी ऊंची आवाज में डीगे हाँक रहे थे तो अग्नि देवता बोला महाराज जी आपने ये कर दिया वो कर दिया जरा देख के आओ ना ये कौन है <laughs> पता तो करो मिलके आओ उसका नाम कहा क्या है कहां से आया है इतना तेजस्वी भयंकर रूप कभी देखा नहीं हमने हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं कभी नहीं देखा ऐसा अब कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि बड़े डिंगे आकर थे गए वहां पे लेकिन अभिमान ऐसा होता है कि वहां जाके खड़े हो गए ये भी कैसे पूछे कि कौन हो जाके आप खड़े थे तो यक्ष ने इनसे पूछा आपकी तारीफ अब कौन <laughs> अब उनके तो पैरों की जमीन खिसक गई ऐसा भी कोई प्राणी है जो पता नहीं अग्नि देवता मतलब मैं अग्नि हूं तो क्या करते हैं आप मैं ऐसा जला देता हूं ऐसा करता हूं ये करता हूं तो मैं उष्ण देता हूँ सूर्य चंद्रमा सब मेरी वजह से चमकते हैं और ऐसा है क्या होता है जलाना तेरे भस्मीभूत कर देता हूं महाराज जी तो इन्होंने घास का टुकड़ा सामने रखा बोला हमको पता नहीं आज जरा जला के दिखाओ इसको तो बड़ी तोहिन महसूस हुई कि यार हमसे घाट का टुकड़ा जला रहे हैं तो उन्होंने बोला फू अग्नि निकले लपटे निकली उसके तरफ जला नहीं हो उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया फू जला थोड़ी देर बाद अग्नि देवता जैसे प्राणायाम करते ना आदमी फू फू फू वो घास का टुकड़ा कस से मस निकला ये घास का टुकड़ा नहीं जला पाया और वीडियो आ गई थी तो मैंने ऐसा करा मैंने ऐसा करा सर झुका के चुपचाप वापिस आ गए कि दूसरे देवता को भेजा गया वो सब कहानी है हम लोगों के भी जीवन में ऐसा होता है हम लोग बोलते हैं हाँ, लोग मैंने तो ऐसा बहुत कर लिया उसने बहुत कर लिया ठीक है बेटा निपटो <laughs> तुम तो बहुत ही जो है सिद्धि हो करते हो ना मैंने ये कर लिया फिर मैंने भगवान ऐसा करा फिर मैंने ऐसा कर दिया और फिर मैंने घर को सेटल कर दिया बोला अच्छा बेटा हम तुमको सेटल करते हैं हाँ? तो अभिमान जब आदमी का आ जाता है तो ऐसी हवा में हो जाता है बड़ा भयंकर रोग होता है अभिमान जहां आया वहां मरे वहां पतन चालू होता है सब सत्यानाश होता है और भगवान का स्वभाव ऐसा है कि अलग से पंगे लग लेते हैं भगवान ट्रीटमेंट करने आ जाते हैं हमारा बोलते किस चीज का अभिमान है बेटा धन का अभी लुटवाता हूं रूप का अभी एक्सीडेंट करवाता हूं यही तरीका है भगवान का जिस चीज का अभिमान करोगे वो ले लेते हैं तुमसे पद का अच्छा अभी ट्रीटमेंट करें भगवान इस अंदाज से मन बोलिए हमको डर लगता है जिस चीज का अभिमान करोगे वो जीवन में भगवान के ही सेवक होते हैं बाकी हम लोग बोल लेते हैं ये मित्र देवता हैं ये शत्रु देवता हैं वो सब देवता भगवान के सेवक होते हैं वो आते हैं हमारा अभिमान दूर करने के लिए भगवान में करे साढ़े साथी पड़ जाए तुम्हारी लूट जाओगे करोड़पति से रोडपति बन जाओगे ऐसी सिद्धि करते हैं हमारे शनि देवता इसीलिए शुरुआत से विनम्र रहो तो क्या लूटेगा है ही नहीं तो क्या लूटेगा <laughs> भगवान ठीक है मुसीबत टल गई हम्म। तो ये सब भगवान के ऐसे सेवक होते हैं कि हमारा अभिमान दूर करते हैं आप देखो रावण का हुआ हाल नारद जी का ये हाल हुआ जो जो अभिवेकी होता है अभिमान अनजाने में कर लेता है और फिर मारा जाता है यहाँ पे सोरठे में क्या है बुद्धिहीन जान के विनम्र रहो अभिमान बताने दो बुद्धिहीन मतलब हम तो अभी बहुत ही थोड़े ज्ञान से युक्त हैं असमर्थ हैं छोटे हैं अभी बहुत दूर जाना है हमको ये मन में ज्वाला बनाए रखो इसकी चिंगारी जलती रहे कि अभी तो बहुत दूर जाना है अभी क्या करें अभी तो केवल जुगाड़ करा भगवान खाने पीने का दो रोटी का सर पे छत आ गई है दो रोटी मिल जाती है चलो रोटी नहीं पूड़ी खा रहे हो गए यार रोटी चलो ठीक है हाँ। तो इतने ही कर लिया ना और कौन सा तीर मार लिया अभी पूरे जीवन का रहस्य बचा हुआ अभी तुम्हारे भगवान है उनका भी तो जानो ना कौन है भगवान कहाँ है कैसे होते जिन्होंने तुमको भेजा है इस इसीलिए जिस समय हम अपने ज्ञान की संभावनाएं देखते हैं तो विनम्र हो जाते हैं जब आदमी पीछे देखता है जीवन में कहां से आप आए हैं अभिमान की संभावना वहां होती है आगे देखोगे आप संभावना तो विनम्र हो जाओगे इसीलिए नजरें महान लक्ष्य पे होनी चाहिए और हमको पता रहता है अभी तो हमको बहुत जानना है ये भावना इसमें निहित है बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहु ही हर हो करे अभी तुमने पहली लाइन ही देखी है हमको घड़ी दिखा रही है कि पौने नौ बज गया है अब ये कथाएं इतनी बढ़िया होती हैं हमको बड़ा मजा आता है तो उसी में रमते हैं और इसलिए रमना जी हम लोग कौन सा कोर्स पूरा करना है हम लोग रामे मजा से गहराई में जाओ पाठ तो हर बार कर लेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है लेकिन जैसे गाय चारा खा के जुगाली करती है ना वैसे संत लोग बोलते हैं किसी भी पाठ में एक शब्द ले लो जुगाली कराए रस खूब रस निकालो खूब मजा लो खूब गहराई में देखो हर हर गंगे नर्मदे हर ऐसे डुबकी मारते रहो गोते खाते रहो इसी ज्ञान के तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बड़ी विनम्रता से धन्यता से सात्विकता से भगवान का स्मरण करते हैं और प्रार्थना क्या करते हैं ये अगले लाइन में है जो कि फिर हम लोग अपने अगले महीने के सत्र में फिर आगे चल के देखेंगे श्री राम जय राम